एक होता है दूसरी होती है व्याधि आधी होता है मन के दुखों को आधी बोलते हैं शरीर के दुखों को व्याधि बोलते हैं आधि और व्याधि का जिस पर असर नहीं होता समझो वो पार हो गया और आधि व्याधि वो सत्य मानता और आधि व्याधि अपने में थोपता है तो समझो अभी संसार का खिलौना है मन में दुख आए चिंता आए तो बोले मैं दुखी हूँ मैं चिंतित हूँ शरीर में रोग बीमार है तो बोले मैं रोगी हूँ मैं बीमार हूँ मेरे को यह है मेरे को यह है अरे मन का चिंतन ऊंचा करो ब्राह्मण कुएं में गिर पड़ा कुएं में गिर पड़ा तो भावना किया मन ही मन यज्ञ किया और यज्ञ करते करते करते मन ऐसा हुआ कि यज्ञ के फल स्वरूप देवता के पद को पाया ब्राह्मण के दस बेटे थे तो कि जैसा दृढ़ चिंतन करते हैं वैसा ही हो वास्ता है तो हम ब्रह्मा जी हैं दसों ने अपना धारणा ध्यान समाधि करके अपने को ब्रह्मा जी का रूप माना तो इतना तीव्र हजारों वर्ष की समाधि में फिर उनके अपनी अपनी सृष्टि बनाने का सामर्थ्य आ गया तो आप मन से क्या सोचते अपने को अपने को पंजाबी मानते तो पंजाबी लगते हैं अपने को जैसा मानते हैं ऐसा लगते हैं वास्तव में तो ये मान्यता ही तो है तो मैं दुखी हूँ ये भी मान्यता है दुखी सुखी जाति पाति तो अपने को वास्तविक ब्रह्म स्वरूप माने तो ब्रह्म हो जाएगा जो असली है उसको माने तो असली स्वरूप में प्रकट हो जाएगा शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपार मैं शब्द बुद्ध शांत चेतन आत्मा हूँ सत्य हूँ चेतन हूँ आनंद स्वरूप हूँ ज्ञान स्वरूप सती जाती तो जाए उसके मन की बात करे मैं काय को उसके मन के अनुकूल प्रतिकूल हुआ न हुआ दुखी सुखी क्यों होना तो मन की मूर्धता से ही जगत वासता है मन में ठान लेते कि इसको भगाऊंगा ये ऐसा है ये वैसा है तो द्वेष बुद्धि आ जाती राग बुद्धि द्वेष बुद्धि जीव को भटकाती संसार में और ब्रह्म बुद्धि जीव को अपने ब्रह्म स्वभाव में जगा देती है बेटा नहीं है बेटा नहीं है बेटे की इच्छा करके दुखी होना है तो दुखी हो ऐसी बीमारियां हैं कि अच्छा है कि संसार के झंझट में नहीं पड़े उनको संतान ही संतान वालों को संभालना पड़ता अपने तो ऐसे ही भले तो उनको दुख नहीं होता तो मन से ही सोचते हैं काल भैरव भी मन से ही परेशान करे ओम हरिओम तत्सत और सब गप सब ओम आनंद ओम माधुर्य मस्ती में रहे तो बस हो गई सारा टूना टोटका सब निकल जाता है ओम ओम आनंद ओम ओम ओम माधुर्य ओम ओम ओम शिवजी ओम ओम ओम चैतन्य ओम ओम करते हुए शांत हो जाए फिर जपे फिर शांत हो जाए जितनी देर जप करे उतनी देर शांत हो तो जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे से निकल आता है ऐसे ही बल करके मन की दुखद और सुखद वास्तव कल्पनाओं से बाहर निकल जाए हो हे राम जी वास्तावान निगुरे मनमुख व्यक्तियों को देखकर पाषाण <laughs> विरोधन करते हैं ये कहाँ जाके गिरेगा जो कीट बने हैं पतंग बने हैं अड़सिये बने कृमि बने वो भी कभी मनुष्य थे और जो इंद्र बने हैं देवताओं से सम्मानित होते वे भी कभी मनुष्य थे उन्होंने यज्ञ याग संयम किया तो इंद्र बनने की भावना से इंद्र बन गए और वो जो आए वो खाए जिधर आए उधर चल दे तो फिर पतंग होके भटकते आवारा लोग कभी इधर गए कभी इधर गए जैसा मन में ऐसे करने लगे तो नीच से नीच गति को चले जाते इसलिए शास्त्र के अनुरूप महापुरुषों के अनुरूप धर्म के अनुरूप मन को ऊर्धगामी किया जाता है और मन में जो आया ऐसे करने लग गए तो मन अधोगामी हो जाता है ऐसों को देखकर ऐसों के संग से भी बड़ा बुरा हाल होता है उनके वचन रूपी वायु से राख उठती है जो आंखों को धूमल कर देती वही राग बुद्धि को नष्ट कर देती विवेक को नष्ट कर देती ये चाहिए ये चाहिए क्या बढ़ाना अपने अंतरात्मा के सुख में आना है कि ये चाहिए ये चाहिए ये देखूं ये घूमू ये करूं ये पढ़ू ये सर्टिफिकेट तो फिर भटको भटको संसार में कबीर जी ने कहा भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया अच्छा है अनपढ़ है कम है लेकिन ईश्वर में प्रीति है जगत की माया से तो बच गया पढ़ हम्म। पढ़ के भी संसार की वासना हुई तो और जन्मेगा मरेगा तो कितना भी देखे कितना भी घूमे कितने भी सर्टिफिकेट लेकर क्या करेगा आखिर तो मौत ठिकाना है बालकपन खेल गंवायो यौवन में काम पीड़े काम वृद्धत्व में अंग फरकन लागे आखिर मौत निशान साधु कब समरोगे राम कब समरोगे भगवान को भगवत सुख कब लोगे भगवत आनंद कब लोगे भगवत माधुर्य कब लोगे और ये मन की चाल को देखने वाला मैं साक्षी हूं ऐसा ज्ञान कब लोगे ऐसे तो कीट पतंग भूड भी खाते पीते हैं मजा करते रहते दिखता है मजा फिर देखो भूंद की क्या जिंदगी है माल बच्चे तो उसको भी है पत्नी बच्चे भूंद को भी है बकरे को भी है कुतिया को भी कुत्ते को भी कुतिया है तो क्या हो गया आयुष्य नष्ट हो रहा है ईश्वर प्राप्ति के बिना ईश्वर की प्रीति ईश्वर का आनंद जो अपने को जन्म मरण वाला मानता है वो जीव है जन्मे और मरे अपने को चैतन्य माने साक्षी माने नित्य स्वरूप आकाश रूप घड़ा पैदा होता है मारता है आकाश क्या पैदा होगा मरेगा बुलबुले पैदा होते हैं मिटते हैं सागर क्या मिटेगा ऐसे ही आत्मा चैतन्य है ज्ञान स्वरूप है अमर है सुख स्वरूप है दुख आया तो मन के साथ जुड़ो नहीं दुख आया तो मन में आया काय को दुखी होना भूतकाल को याद करके काय को तप मरना भविष्य की चिंताएं कर करके काय को परेशान होना वर्तमान में भगवताकार ब्रह्माकार भाव से मस्त रहे काल भैरव भी मेरा आत्मा है लीलाशाह बापू भी है बापू जी भी है सब मेरे ही स्वरूप है सब में मैं सब मुझ में सब में मैं बस ओम ओम ओम आनंद ओम ओम ओम करके दिन में तीन बार हास्य किया कर मौज ही मौज हो गई ठीक है हाँ जी राम जी जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके समझाता है तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूँ देख ले आप लोगों को भी पिता अनुग्रह करके बच्चे को समझाता है ऐसे गुरु अनुग्रह करके साधक को शिष्य को समझाते हाँ, अपना ऊंचा अनुभव से गुरु के अनुभव से अपना मन मिलाना चाहिए नहीं तो मुंह के संपर्क में आके तो पाषाण भी रुदन करते वासना तो सबके अंदर में होती है तो वासना के अनुसार मिल जाता है तो फिर दूसरी वासना तीसरी वासना बढ़ती है नहीं होता है तो दुख होता है तो वासना कैसे मिटे तो बोले वासना के पेट में भगवान की मांग डाल दो <laughs> तो भगवान की मांग होगी तो वासना का पेट फाड़ के भगवान का सुख प्रकट हो जाएगा तो वासना गई वासना के पेट में भगवत प्राप्ति का भाव डाल दो तो प्रेम वासना है ये चाहिए वो चाहिए नहीं पहले मुझे ईश्वर चाहिए मैं पढ़ लूँ बेशक पढ़ना लेकिन पहले ईश्वर प्राप्ति कर लूँ मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ सब करना लेकिन पहले ईश्वर प्राप्ति कर लूँ ये सब आसानी से हो जाएगा और सब कर लूँ फिर भगवान को पाऊंगा तो वो भटकेगा कुछ नहीं करेगा ये भी गया वो भी गया अतो भ्रष्ट तो भ्रष्ट मांग की पेट में भगवान को रख दो मेरे को भगवान चाहिए भगवत प्राप्ति करो राम जी जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है ऐसे जुआनी में वैराग्य होना विवेक होना कठिन है जुआनी में काम विकार से बचना संसार की इच्छा वासना से बचना ही भगवान की कृपा है ब्रह्मानंदम ओम कोई भी इच्छा है बस पहले ईश्वर प्राप्त हो जाए फिर पहले ईश्वर से मिलने अपने आत्मदेव से ठीक देखा जाएगा नारायण हरि नारायण